प्रकरण हलो नहीं ओ जिज्ञास समाधान में प्रश्न है कि ईश्वर सर्वज्ञ कैसे है यदि हम ये माने ये कहें कि ईश्वर हमारे भावी कर्मों को नहीं जानता यह आत्मा ये काम करेगा इससे ये बोलेगा इससे ये लेगा इससे ये देगा इसको ये देगा इससे ऐसा व्यवहार करेगा यदि ये सब परमात्मा नहीं जानता है तो ये फिर सर्वज्ञता सीमित सर्वज्ञता हो गई और विशेष परिस्थिति की सर्वज्ञता हो गई और यदि ऐसा मानेंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी अनुशासन नहीं रहेगा देखिए सर्वज्ञता का अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या है कि जो सबको जानता है जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं सर्व शब्द में सारी वस्तुएं आ गई वस्तुओं के सारे गुण धर्म आ गए और वस्तुओं के सारे कर्म आ गए स्थान के साथ काल के साथ भी जुड़ करके जो कर्म किए जाते हैं वो भी आ गए किस स्थान पर किस समय इससे संबंधित जो सूचना है वो भी साथ में रहेगी तो जड़ वस्तुओं के बारे में परमात्मा सब जाने इस इस वस्तु के ये ये गुणधर्म होते हैं ये ये कर्म होते हैं चेतन के बारे में भी ये ये चेतन है ये ये वस्तुएं हैं इनके ये गुणधर्म हैं ये इन इन कर्मों को कर सकते हैं यहां तक तो वो पूरा जानता है द्रव्यों को गुणों को और कर्मों को भी कर्मों के संदर्भ में क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या करने की संभावना है वो परमात्मा पूरी तरह जानता है इसलिए वो सर्वज्ञ है लेकिन प्रश्न कहां पर है कि ये बताया गया था कि परमात्मा हमारे भावी कर्मों को विशेष रूप से मनुष्य के भावी कर्मों को नहीं जानता कि ये आत्मा ये मनुष्य इस दिन इस समय यह कार्य करेगा और दिन और समय भी हटा दें स्थान हटा दें तो भी ये मनुष्य इस इस कर्म को करेगा ये भी परमात्मा नहीं जानता ये इसी कर्म को करेगा इसके बाद ये करेगा इसके बाद ये करेगा इसको ऐसा करेगा ये परमात्मा नहीं जानता है जब ये कहा गया तो उस पर प्रश्न है कि ये तो परमात्मा की सर्वज्ञता सीमित हो गई लिमिटेड हो गई और कंडीशनल हो गई एक विशेष परिस्थिति के लिए हो गई ऐसा हम क्यों मानते हैं कि परमात्मा हमारे भावी कर्मों को झुका तू नहीं जानता जैसे हमारे किए हुए कर्मों को वो जानता है झुका तू कब कौन सा कहा क्या कर्म किया था ऐसा भावी कर्मों के बारे में नहीं जानता क्यों नहीं जानता क्योंकि अभी वो किए ही नहीं गए हैं न हमारे मन में ये विचार है निश्चय है हम भविष्य में क्या विचार करेंगे ये हमें भी नहीं पता है और परमात्मा को भी नहीं पता है हम कुछ भी विचार कर सकते हैं तो शारीरिक कर्म वाचनिक कर्म या मानसिक कर्म विचार इनमें हम स्वतंत्र हैं हम चाहे करें चाहे तो ना करें एक निश्चित कर्म करें या किस तरीके से करें ये सारा हमारे ऊपर निर्भर है स्वतंत्रता है कर्म की स्वतंत्रता एक बड़ा सिद्धांत है यदि उसको न माना जाए फिर तो कर्मफल व्यवस्था भी नहीं बनेगी दंड या पुरस्कार पाप और पुण्य कुछ भी नहीं बनेगा इसलिए कर्म की स्वतंत्रता तो हमें माननी आवश्यक है और कर्म की स्वतंत्रता यदि मानी है तो हम ये नहीं मान सकते कि परमात्मा हमारे भावी कर्मों को भी जानता है क्यों नहीं मान सकते अब अभ्युपगम से देखते हैं यदि परमात्मा हमारे भावी सभी कर्मों को यथावत जानता है तो इसका मतलब हुआ कि हमारे भावी कर्म सभी कर्म निश्चित है यही यही हमें करना है हमारे सभी कर्म निश्चित हैं ऐसा मानेंगे तभी ये कह सकते हैं कि परमात्मा हमारे भावी कर्मों को जानता है और भावी कर्म यदि निश्चित हैं तो कर्म की स्वतंत्रता नहीं रह पाएगी और कर्म की स्वतंत्रता नहीं रही तो कर्मफल सिद्धांत ही समाप्त है और यदि कोई यूं सोचे कि परमात्मा हमारे भावी कर्मों को भी जानता है और हमें कर्म करने की स्वतंत्रता भी दे रखी है दोनों ही बातें हैं तो ये दोनों बातें ठीक नहीं हो सकती यदि कर्म की स्वतंत्रता है और उसके आधार पर हमने भिन्न कर्म कर लिया तो परमात्मा तो भिन्न जानता था कि ये व्यक्ति इस कर्म को करेगा और हमने कर्म की स्वतंत्रता से भिन्न कर्म कर लिया तो परमात्मा का वो ज्ञान सत्य सिद्ध होगा या असत्य सिद्ध हो जाएगा झूठा सिद्ध हो जाएगा परमात्मा सर्वज्ञ है इसके साथ ये भी जुड़ा है कि परमात्मा का ज्ञान शुद्ध है गलत नहीं है मिथ्या नहीं हो सकता है वो तो परमात्मा जो जानता है वैसा का वैसा ही फिर होना होगा और यदि कर्म की स्वतंत्रता से हम भिन्न कर्म करते हैं तो परमात्मा का वो जाना हुआ कि ये आत्मा इस इस कर्म को करेगा वो झूठा हो जाता है इसलिए कर्म की स्वतंत्रता मानते हुए हमें यही मानना अनिवार्य है कि परमात्मा हमारे भावी कर्मों को नहीं जानता हमारे भावी विचारों को नहीं जानता हमारे भावी वाक्यों को वाणी को नहीं जानता कि ये आत्मा ये व्यक्ति मनुष्य इस इसको बोलेगा इस इसको विचारेगा इस इसको करेगा वो नहीं जानता है इसमें यह अवश्य ध्यान रखना जो पहले कहा था कि आत्मा यह यह कर सकता है वो संभावना उसको पूरी पता है लेकिन यही करेगा ये नहीं पता है क्या क्या विचार कर सकता है ये वो जानता है यही विचार करेगा ये वो भी नहीं जानता है यह यह बोल सकता है इस इस तरीके से बोल सकता है ये वो जानता है सारा का सारा लेकिन यही जान यही बोलेगा ये नहीं जानता इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि एक बहुत बड़ी दुकान है बहुत बड़ी दुकान है तो उसमें उसको लिख लेना चलो मैं फिर से बोलता हूं ये चलता रहता तो चल जाता कोई बात नहीं थी वैसे तो से कर रहा हूं इसको इसे समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है एक दुकान में परचुनी की दुकान में सैकड़ों चीजें हैं और खरीदार आ रहा है वो खरीदार दुकान की वस्तुओं में से कौन सी वस्तु खरीदेगा ये दुकानदार को नहीं पता है ग्राहक को ये पता है कि ये चीज यहां मिलती है परिचित है तो दुकानदार को इतना तो पता है कि ये कोई चीज मेरी दुकान से लेने आ रहा है जो मेरे पास है उसी में से कोई चीज लेगा लेकिन कौन सी लेगा ये उसको नहीं पता है इसको थोड़ा और अच्छा दृष्टांत यूं दें कि एक चिकित्सक औषधि लिखता है और वो जितनी औषधि लिखता है वो दुकान पे है एक चिकित्सालय में बीसियों चिकित्सक हैं वो सब जिस जिस औषधि को लिखते हैं वो सारी एक दुकान में है और अब रोगी एक पर्ची लेकर के आ रहा है तो दुकानदार ये जानता है कि इस पर्ची पे कौन सी दवाई लिखी होगी ये तो नहीं जानता है लेकिन इतना उसे पता है कि चिकित्सक ने चिकित्सक कौन कौन सी दवाई लिख सकता है उसे पता है कि यही नहीं दवाइयों के अंतर्गत वो लिखेगा उन्हीं में से कोई ना कोई दवाई होगी लेकिन कौन सी होगी इसका उसको निश्चय नहीं है इसी प्रकार परमात्मा ये तो जानता है कि आत्मा क्या क्या कर सकता है मनुष्य क्या क्या कर सकता है विचार सकता है बोल सकता है इसका पूरा पता है उसे लेकिन यही करेगा यही बोलेगा यही विचारेगा ये उसे नहीं पता है तो इसलिए परमात्मा को हमें इसी रूप में सर्वज्ञ करना चाहिए मानना चाहिए सर्वज्ञता का ये अभिप्राय नहीं कि वो सब चीजें जो कि तुम भविष्य की भी जानता है उसमें दोष आएगा और जिस तरह की ये व्याख्या की गई है इसमें कोई दोष नहीं आएगा इसमें इन्होंने प्रश्न किया है कि यदि ऐसा माने तो अव्यवस्था हो जाएगी अनुशासन तो रहेगा नहीं तो कैसे अव्यवस्था होगी ये कैसे अनुशासन नहीं रहेगा आप बताना चाहें बताएं हम्म आप पक्ष में बोल रहे विपक्ष में बोल रहे नहीं शुरू में जो आपने बोला वो तो आपने अपनी बात को रखा था आपका क्या कहना था कि यदि ईश्वर को पता ना हो तो अव्यवस्था कैसे कि कोई अपनी सब अपनी इच्छा अनुसार मन मर्जी से करने लगेंगे तो ये तो है ही ना ये तो यही तो कर्म की स्वतंत्रता है कि हम अपनी मनमर्जी से कर सकते हैं हम अपनी मनमर्जी से कर सकते हैं यही तो कर्म की स्वतंत्रता है हाँ बात की जो आपने बातें की वो तो दोष है यदि परमात्मा जानता है सब कुछ तो हमें बिल्कुल वही वही करेंगे हम कठपुतली की तरह से उसमें कोई हमारी स्वतंत्रता नहीं रहेगी विचार की कर्म करने की फिर तो कोई मनुष्य जीवन नहीं वो यंत्रवत चलेगा सारा ऐसा ही पाप होना था ऐसा ही पुण्य होना था ऐसे ही हमें गुलाम होना था ऐसे ही हमें स्वतंत्र होना था ऐसे ही हमारे यहां गंदगी रहनी थी ऐसे ही हमारे यहां पर भ्रष्टाचार रहना था सब कुछ वैसे ही होगा ऐसे ही आतंकवादियों का आतंक रहना था सब कुछ वैसे ही हो जाएगा ये बहुत बड़ा दोष है और अब व्यवहार से भी प्रत्यक्ष से भी ये विरुद्ध है क्योंकि हमारे स्वतंत्रता है हम कैसे भी कर सकते हैं मैं बोल रहा हूं मैं कैसे भी बोल सकता हूं मैं कभी भी समाप्त कर सकता हूं मैं यहां से उठ के जाऊंगा तो कैसे भी उठ के जा सकता हूं इधर से भी जा सकता हूं इधर से भी जा सकता हूं ये प्रत्यक्ष सिद्ध है प्रतिदिन ये सिद्ध है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं इस प्रत्यक्ष का खंडन नहीं कर सकते हम इसका खंडन नहीं हो सकता और यदि हम स्वतंत्र हैं तो परमात्मा को कैसे पता लगेगा कि हम क्या करेंगे जिस बात का हमारे मन में विचार तक नहीं है कल कौन व्यक्ति आने वाला है कौन अतिथि आने वाला है हमें पता ही नहीं है वो आएंगे उनसे मिलेंगे बात करेंगे ये तो कुछ भी नहीं पता है अभी अतिथि का भी नहीं पता है वो आएगा नहीं आएगा उनका भी विचार बदल जाए कोई घटना हो जाए जिससे वो ना आने पाए उनके यहीं कोई अतिथि आ जाए तो ये सब इतना अनिर्धारित है कि इसमें परमात्मा ठीक जान ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता और यदि जानता है और फिर भी हम कहते हैं कि नहीं कर्म की स्वतंत्रता है तो परमात्मा का ज्ञान खंडित होगा बार बार होगा और सब कुछ निश्चित है तो फिर हमारी साधना का भी कोई मतलब नहीं है करने का ठीक है जब हमें शुद्ध होना है हो जाएंगे बुराइयों से बचने की भी कोई आवश्यकता नहीं है जो अगर बुरा बनना है तो बनेंगे अच्छा जब बनना है तब बनेंगे और फिर हमारे करने से भी क्या होगा अभी तो हमें बुरे ही कर्म करने हैं तो अच्छे कैसे हो पाएंगे कुछ भी प्रयत्न नहीं स्वास्थ्य के लिए बीमार होना था तो होना ही था चिकित्सा से क्या वो सब कुछ भाग्य के अनुसार परमात्मा के अनुसार जैसा चल रहा है वैसा चलता हो तो ये जीवन ऐसे नहीं हो सकता जैसा हम आज देख रहे हैं इसलिए परमात्मा की सर्वज्ञता हमें स्वीकार करनी है वो सर्वज्ञ है लेकिन जो उसकी सर्वज्ञता में नहीं आता है जो गलत तरीका है अज्ञान है उस तरह से हम उसको सर्वज्ञ नहीं मानेंगे तो इस विषय में और किन्हीं को कोई पूछना है तो, तो इससे कोई अव्यवस्था भी नहीं हो रही है और अनुशासन भी भंग नहीं हो रहा है कर्म की स्वतंत्रता के कारण से जो अनुशासन भंग होता है मन मर्जी से कुछ करते हैं वो तो करते हैं वो तो व्यवस्था दी गई है उसके ऊपर फिर दूसरी व्यवस्था है दंड व्यवस्था अन्य शासन है राजा का है व्यक्ति का है अलग अलग अनुशासन इस संसार में भी है और परमात्मा का भी है लेकिन फिर भी कर्म की स्वतंत्रता तो है परीक्षा के संदर्भ में भी ये समझ सकते हैं कि बच्चे को परीक्षा देते समय क्या लिखना है ये पहले से निर्धारित नहीं हो सकता वो क्या लिखेगा वो उसकी स्वतंत्रता है सब अलग अलग लिखते हैं हाँ अध्यापक को ये पता होता है कि ये क्या क्या लिखने वाला है अध्यापक को पता है कि इसे ये ये चीजें पता है ये ये ये इसी के अंतर्गत कुछ ना कुछ लिखेगा एक मोटे तौर पे कह रहा हूं इसको पूरे शत प्रतिशत तो वो भी नहीं कह सकता कि यही शब्द और ऐसा कैसा लिखेगा तो हर व्यक्ति अपना अपना अलग अलग स्वतंत्रता से कर्म करता है हाँ इसमें कुछ पूछना है संतोष जी जैसे लोग में देखा जाता है कि जो व्यक्ति अधिक जानता है तो उसे हम कह देते कि सर्वज्ञ है इसी प्रकार परमात्मा थोड़ा बहुत नहीं जानता है इसलिए सर्वज्ञ भी कहा जा सकता है वो थोड़ा क्या नहीं जानता है दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों को वो जानता है इसलिए वहां कुछ छूटता नहीं है कि परमात्मा इस वस्तु को नहीं जानता जितनी वस्तुएं हैं उनके सभी गुण धर्मों को वो जानता है उनकी सब अवस्थाओं को जानता है इसमें ये ये परिवर्तन होंगे ऐसे ऐसे हो सकता है सब जानता है वो गुण धर्मों को जानता है उनकी समस्त क्रियाओं को जानता है क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं की जा सकती हैं ये वो पूरा जानता है तो इस अर्थ में तो वो हम ये कहें कि ये इस चीज को नहीं जानता है ये बात नहीं बनेगी जैसे अभी जो समस्या आई थी कि मेरे भविष्य के विषय में नहीं जानता मैं क्या करूं जाना ही नहीं तो सर्वज्ञ कैसे सर्वज्ञता का यही अर्थ कि जितनी वस्तु हैं उनको जानता है उनके जितने गुणधर्म हैं उनको जानता है उनके जितने कर्म हैं उनको जानता है ठीक है इतने मात्र से उसकी सर्वज्ञता है ये कहां है किस समय में वो भी वो जानता है देश और काल भी इतने में उसकी सर्वज्ञता है उसको सर्वज्ञ कहा जा सकता है और जिस अंश में सर्वज्ञता नहीं है यानी जानता नहीं है वो वो विश्वेचना की जा चुकी है कि अगर ऐसा माना जाए तो क्या क्या दोष आएंगे जो परमात्मा की सर्वज्ञता को ही सिद्ध करने में लगे कि वो तो सब कुछ भविष्य की भी जानता है तो इन दोषों का निवारण क्या है उस पक्ष में ये उनको बताना होगा उसमें कोई निवारण नहीं है उसमें बहुत अधिक दोष हो जाएंगे और इतने अंश में परमात्मा नहीं जानता है इससे उसकी सर्वज्ञता बाधित नहीं होती जो है उसी को तो जानेगा जो हो चुका है उसको भी वो जानता है क्योंकि जिस समय वो हो रहा था उसको वो जानता है लेकिन जो हुआ ही नहीं है जो कर्म की स्वतंत्रता पर निर्भर है उसे वो कैसे जान सकता है इसलिए परमात्मा की सर्वोच्चता को इसी सीमा में रखना होगा तो इसमें कोई सीमा नहीं आती है उसकी ये भी असीमित है हाँ श्रुति जी इस नियम तो इस नियम के होते हुए भी कि कोई भी उदाहरण दाष्टांत के साथ पूरा पूरा नहीं घटना इसका होते हुए भी प्रधान अंश तो घटना चाहिए जो उदाहरण दिया गया है कि चिकित्सक के लिखी पर्ची लेकर आते हुए व्यक्ति कौन सी दवाई उसने लिखी हुई है ये दुकानदार नहीं जानता वो इसलिए नहीं जानता कि वो सर्वज नहीं है सर्वज होता तो शायद जानता आपका जो कथन था उसी पे मैं केंद्रित रहता हूं कि दृष्टांत का एक भाग मिलना चाहिए प्रधान प्रधान मिलना चाहिए आप प्रधान ले रहे हो सर्वज्ञता का सर्वज्ञता तो हो ही नहीं सकती है किसी की है ही नहीं आपने खुद ने स्वीकार किया यहां सर्वज्ञता किसकी थी औषधियों की जो कि दृष्टांत के समय मैंने कहा भी था कि चिकित्सक कौन कौन सी दवाइयां लिखता है ये दुकानदार को पता है सारा पता है इतने अंश में उसकी सर्वज्ञता है लेकिन इस पर्ची पर जो लेकर के आ रहा है ये रोगी इस पर कौन कौन सी दवाई लिखी है या चिकित्सक किस रोगी के लिए क्या लिखेगा इसका उसे नहीं पता है पर्ची लेके आ रहा है उसे ये पता है कि इसमें जो दवाइयां लिखी हैं वो मेरी दुकान में है क्योंकि चिकित्सक जिन जिन दवाइयों को लिखता था वो सारी दवाइयां उस दुकान पे हैं उस परिस्थिति में इस घटना को दृष्टांत को लीजिए तो उसे ये तो पता है कि ये आने वाला क्या क्या मांग सकता है कौन कौन सी औषधियां मांग सकता है लेकिन कौन सी औषधि मांगेगा पर्ची पर कौन सी औषधि लिखी होगी ये उसे नहीं पता है तो जो आप दृष्टांत में घटाने की बात कह रहे थे वो सर्वज्ञता इस अंश में यहां पर घटती है इसलिए ये दृष्टांत है और कोई ठीक है इतना ही